फिर जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं अगर तुम उनके बाद भी राह रास्त से फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह इख्तदार में भी कामिल है हिकमत में भी कामिल